आत्मा में आनंद का अनुसंधान करें कि आनंद भीतर ही है बाहर नहीं तो उसको त्याग पैराग जीवन में आ आवेगा फिर अपने को चेतन रूप से अनुसंधान करें आत्मा के साथ जो संबंध है वो टूटेगा वो दृष्टा साक्ष्य पहले अनात्मा में आनंद है ये टूटेगा और फिर अनात्मा मैं मेरा है ये टूटेगा तो दृष्टा हो गया तो फिर अनात्मा सत्य है ये टूटेगा तो पहले अनात्मा दुख हुआ फिर अनात्मा जड़ हुआ फिर अनात्मा असत्य हुआ तो आत्मा ही परमानंद चेतन और सत्स्वरूप है आत्मा के सिवाय अन्य कुछ नहीं वेदांत की सर्वसम्मत प्रक्रिया है पहले वैराग्य फिर असंगता और असंगता के बाद अद्वितीयता दूसरी प्रक्रिया सुनो पहले सत्य का अनुसंधान करो सत्य तो उसमें क्या होगा जो हम भोग करें वो सत भोग हो असत न हो कर्म करें तो कर्म करें असत कर्म न करें हमारे अंदर सद्गुण हो असद्गुण ना हो तो कर्म और भोग का सत होना तो बहिरंग चरित्र की शुक्ति है और सद्भाव और सद्गुण का शुद्ध होना ये अंतरंग अंतकरण की शुद्धि है और सत स्वरूप में स्थित होना ये समाधि है उसके बाद दृष्टा का विवेक होगा इस समाधि का भी मैं दृष्टा हूँ पंचन भाव आ गया हूँ तो घट पटादी बहिरंग निमित्त से वृत्ति बनती है पूर्व पूर्व संस्कार से वृत्ति बनती है देखो वही कहते हैं घटपटादी वस्तुओं के निमित्त से वृत्ति बनती है विज्ञानवादी बौद्ध कहते हैं कि पूर्व पूर्व संस्कार के अनुसार विज्ञान में आकार आता है व्यक्तियों का स्वभाव ही है असल में न ज्ञान घटाकार पटाकार बनता है न घट पट ज्ञानाकार बनते हैं ये दोनों विवर्त मात्र हैं अच्छा जी तो घट पट के प्रकाशक के रूप में चेतन एक वृत्तियों के प्रकाशक के रूप में चेतन दो तो, और स्वयं प्रकाश के रूप में चेतन तीन फिर जो सत्स्वरूप और चित्त स्वरूप अद्वैत वस्तु है वो एक है और उसके बिना दुनिया में न कोई प्रिय है न अप्रिय है न सुख है न दुख है न भोग है न भोग है वही परमानंद धन है तो आनंद चित्त और सत सत चित्त और आनंद और एक उत्तम प्रक्रिया ये है कि शुद्ध अंतकरण वाला पुरुष हो सत्य को परिवर्तनशील और आनंद को अन्य विषय में कभी मान नहीं सकता इसलिए वो चित्त स्वरूप का ही विवेक करे कि देश काल वस्तु का प्रकाशक स्वयं प्रकाश चित ब्रह्म ही है तो आनंद की प्रधानता से एक प्रक्रिया सत की प्रधानता से दूसरी प्रक्रिया सत चित्त की प्रधानता से तीसरी प्रक्रिया हाँ, और जिज्ञासु गुरु के पास रह के श्रवण करे तो सच्चिदानंद तीनों का एक काल में ही श्रवण कर सकता है अच्छा अब आपको हमको यहाँ ध्यान करे ध्यान करे ध्यान करे तो ये कार की प्रक्रिया है कार वनस्पति मिश्र को गृहस्थ थे गृहस्थ और पंचपालिकाकार जो पद्म पादाचार्य हैं वो शंकराचार्य भगवान के साक्षात शिष्य थे वो सन्यासी थे तो आपको थोड़ा सा आश्रम धर्म की बात थोड़ी सुनाते हैं ब्रह्मचारी अपने गुरु का सेवक होता है वह पराधीन होता है सेवा कर्म है वर्ण की दृष्टि से ब्रह्मकारी शुद्ध कोटि नहीं है क्योंकि ही उसका प्रधान धर्म है गृहस्थ जो है वो स्वामी और सेवक दोनों होता है अपने सेवक का स्वामी होता है और जो साधु महात्मा हैं त्यागी हैं उनका सेवक होता है गृहस्थ यदि साधु का सेवक नहीं होगा तो बंधन से कभी मुक्त नहीं हो सकता क्योंकि साधु को देख के मन में आता है कि सबके बिना भी रहा जा सकता है गृहस्थ के लिए त्याग का आलंबन है साधु जब बिना स्त्री के बिना धन के बिना मकान के ये रह सकते हैं तो गृहस्थ के मन में भी त्याग वृत्ति का उदय होता है साधु को देख के ब्रह्मचारी सेवक होता है और गृहस्थ स्वामी सेवक दोनों होता है और बानप्रस्थ स्वामी सेवक तो किसी का नहीं होता बानप्रस्थ हाँ, लेकिन अपनी सेवा स्वयं करने का स्वावलंबी होता है स्वावलंबी ब्रह्मचारी विश्व है वैश्वानंद अग्नि और गृहस्थ हिरण्य गर्भ है तेजस और बानप्रस्थ प्राज्ञ है और पत्नी तो है परंतु भोग संबंध नहीं है मानप्रस्थ और सन्यासी जो है वो तुरी है अधूरी है तो उसमें स्वामी सेवक भाव नहीं है सन्यासी में न सन्यासी किसी का सेवक है और न किसी का स्वामी है और बानप्रस्त किसी का सेवक नहीं है अपना स्वामी है अपनी सेवा कर लेता और गृहस्थ साधु का सेवक भी है और स्वामी भी है अपने से छोटों का संपत्ति का संपत्ति का धन का और ब्रह्मचारी सेवक सेवक है ब्रह्मचारी में पृथ्वी के समान क्षमा होना चाहिए जल के समान निर्मलता होनी चाहिए अग्नि के समान तेजस्वीता होनी चाहिए समान गतिशील होना चाहिए आकाश के समान असंग होना चाहिए ये ब्रह्मचारी का धर्म है तो कार का कहना है कि श्रवण करो मनन करो निधिध्यासन करो तो श्रवण शब्द का अर्थ जैसा हम लोग अपनी बोली में समझते हैं वैसा नहीं है श्रवण माने बौद्ध निश्चय कान से शब्द का सुनना जैसे बैठे बैठे कोई सुन रहे हो इसको वेदांत में श्रवण नहीं कहा जाता संपूर्ण वेदांतों के परम तात्पर्य का जो निश्चय है हाँ, षटलिंग के विचार से आदि मध्यावसान से उस निश्चय का नाम वेदांत में श्रवण है श्रवण करो माने निश्चय करो कि आत्मा क्या है ये आत्मा ब्रह्म है यदि कोई मन में संशय हो हाँ, शास्त्र के तात्पर्य में संशय हो परमात्मा के स्वरूप के संबंध में कोई संशय हो तो मनन करो और फिर श्रवण और मनन से निष्पन्न जो अर्थ है उसका निधिध्यासन निधिध्यासन करना क्या विजातीय प्रतीकार वर्तन करके कोई भी जाती है जनाकार वृत्ति घटमनात्याकार वृत्ति ना आवे स्त्री पुरुषात्याकार और सजातीय वृत्ति केवल शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्माकार वृत्ति का प्रवाह हो और अहंकार न हो तो मैं ये वृत्ति को दोहरा रहा हूँ सजातीय मनोवृत्ति प्रवाहो हम कृतम बिना मैं वृत्तिमान हूं ये तो अहंकार न बने और विजातीय वृत्ति का वृत्ति का तिरस्कार होके सजातीय वृत्ति इसका प्रभाव हो है बारम्बार बारम्बार जो लार पर लार लार पर लार लार पर लार क्या उठा रही उठ रही है कचराकार चिन्मय चिराकार चिन्मय तरंग उठ रही है बारंबार बारंबार बारंबार इसका परिपाक होने से चित्त में अंतकरण में उस शक्ति का उदय होता है जो अज्ञान और अज्ञान जन्य अनर्थ को निवृत्त कर दे ये भामतिकार का मत है और विवरणकार माने ब्रह्मसूत्र पर शंकर भाष्य पर पंचपादिका पंचपादिका पर विवरण विवरण प्रस्थान का ये मत है कि शुद्धांतकरण सन्यासी जब वेदांत का श्रवण करता है तो पहले उसने वेदों का अध्ययन तो किया ही हुआ है स्वाध्याय धर्मांग रूप से उसने सारे शास्त्र पढ़े हैं